खतरा दुश्मनों से नहीं बल्कि आसपास के लोगों से है क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं अंदर के छेद के कारण डूबती है